और जब मूसा गुस्से से भरे हुए अफसोस करते हुए अपनी कौम की तरफ वापस आए उसने कहा तुमने मेरे बाद बहुत बुरी जानशीनी की क्या तुमने अपने रब के हुक्म से जल्दबाजी की और उसने तख्तियां फेंक दी और अपने भाई का सर पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे हारून ने कहा ए मेरी माँ के बेटे यकीनन कौम ने मुझे कमज़ोर समझा और करीब था कि मुझे कत्ल ही कर देते सो आप दुश्मनों को मुझ पर खुश होने का मौका ना दें और मुझे उन जालिम लोगों के साथ शामिल न करें